participating in the SRG Housing Finance Limited 3Q and 9-month FY20 earnings call. From management, today we have with us Mr. Vinod Jain, MD of the company, Mr. Ashok Modi, CFO of the company, and Ms. Sunaina Nagar, IR of the company. Now, I will hand over conference to Ms. Sunaina Nagar for giving the opening remarks. Then Mr. Vinod Jain will take about industry growth and then discuss the quarterly performance. Post then we'll have Q&A session. Over to you, Sunaina. A very good morning, everyone, and welcome. We are here to discuss SRG Housing Finance Q3 FY20 results. Uh, the results will be as per the Indian Accounting Standard. I hope you all have received the presentation, and we have also uploaded the presentation on BSC and SRG Housing website. Over to you. Hey, मैं आप सभी का क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल के अर्निंग्स कॉल में स्वागत करता हूँ जितने भी पार्टिसिपेट हैं उनका तो हम क्वार्टर थ्री के परफॉर्मेंस की बात करेंगे अर्निंग फ्रंट पर net interest income 4.89 percent growth के साथ क्वार्टर थ्री में नौ करोड़ तेईस लाख रुपए रही है जो कि पिछले साल क्वार्टर थ्री में 8.80 करोड़ थी profit before tax 5.56 percent growth के साथ 45 करोड़ रहा है जो कि पिछले ईयर में क्वार्टर थ्री में 6.11 करोड़ था हमारा जो पेट है वो 3.23 परसेंट ग्रोथ के साथ क्वार्टर थ्री में पांच करोड़ बारह लाख रुपए रहा है जो पिछले साल क्वार्टर थ्री में 4.96 करोड़ था ईपीएस 3.41 परसेंट की ग्रोथ के साथ 3.94 हो गया है जो कि लास्ट ईयर क्यू थ्री में 3.81 था क्वार्टर थ्री का C R R ratio thirty nine point eight two percent रहा है जो कि पिछले वर्ष में 29.61 परसेंट था अब हम कॉस्ट पर बात करें तो हमारी average borrowing cost quarter three में eleven point three seven percent रही है जो कि पिछले साल क्वार्टर थ्री में eleven point zero five percent थी और हमारी टोटल लोन बुक 4.19 परसेंट की ग्रोथ के साथ क्वार्टर थ्री में रुपए 283 करोड़ रही है जो कि पिछले पिछले ईयर क्वार्टर थ्री में 271 करोड़ थी बिजनेस ग्रोथ हालांकि मार्केट कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं हुई फिर भी हमने assets quality and business model पर काम करते हुए स्टेबल ग्रोथ रखी है ग्रोथ एनपीए क्वार्टर थ्री में 1.98 परसेंट रहा है जो कि पिछले साल क्वार्टर थ्री में 1.72 परसेंट था नेट एनपीए 0.45 परसेंट रहा है जो कि पिछले ईयर में क्वार्टर थ्री में 0.46 था क्वार्टर थ्री के दौरान डिसबर्समेंट 10.23 करोड़ रहा है जो कि पिछले क्वार्टर थ्री में हमारा 33.78 एट करोड़ था क्वार्टर थ्री में हाउसिंग लोन 73 परसेंट एंड लेब 27 परसेंट रहा है इसमें हाउसिंग लोन का एवरेज टिकट साइज 5.23 lakhs है. And uh, लेब का एवरेज टिकट साइज 9.23 परसेंट रहा है 9.23 लाख रहा है एंड हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो का एलटीवी 42 है और लेब का एलटीवी रेशियो 44 रहा है बोरिंग साइड पर जनवरी मंथ में हमने एफ से साढ़े चौदह करोड़ बोरिंग की है क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ट्वेंटी के दौरान टोटल बोरिंग हमारी 248.77 करोड़ थी जिसमें 56 परसेंट बैंक से 5 परसेंट एनसीडी से 36 परसेंट एफ से और 3 परसेंट एनएचबी से रहा है इस फाइनेंशियल ईयर 1920 में हमारा फोकस अभी मार्केट को ध्यान में रखते हुए बिजनेस मॉडल एंड सिस्टम को मजबूत करने में रहा है ताकि मार्केट एंड इकोनॉमिक इम्प्रूव होने के साथ साथ हम भी अच्छे से ग्रो करने में हमें को कोई प्रॉब्लम नहीं आए जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट में लिक्विडिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है हमारे पास लिक्विडिटी फंड्स लगभग रुपए 20 करोड़ है जो कि टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग का 8 परसेंट है और कैश मार्जिन को भी मिला दे तो ये लगभग 14 परसेंट है इसी से हम ये कहते हैं कि हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव है और एलएम स्टेबल है जबकि इंडस्ट्री में एलएम मिसमैच की प्रॉब्लम रही है लेकिन हमारी कंपनी में नहीं है क्योंकि हमने कभी भी शॉर्ट टर्म फंड नहीं लिए हैं नहीं हमारा कोई रीपेमेंट बुलेट बुलेट पेमेंट के रूप में है इस तरह से ये क्वार्टर थ्री का रिजल्ट रहा है अब आप मुझसे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं कृपया तो आप एक एक करके पूछिएगा Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Ravi Naredi from Naredi Investments. Please go ahead. जैन साहब आज माहौल के हिसाब से आपका रिजल्ट अच्छा है लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपका जो डीएसए का बिजनेस आपने जीरो परसेंट कर दिया इस क्वार्टर में उसका क्या रीजन है सर एक्चुअल में डीएसए का मार्केट में क्या है डिमांड भी कम है अच्छा ओके जैसे क्या होता है कि जो अपना मेन पावर होता है वो ज्यादा मेहनत करके जो बिजनेस लाता है वो चीजें होती है डीएसए वाला बिजनेस इसलिए स्लो है अच्छा। डीएसए कोई भी क्या होता है वो एक कंपनी के साथ काम नहीं करता वो मल्टीपल कंपनियों के साथ काम करता है सही बात है तो इसलिए वो सब जीरो है बिजनेस बाकी अपना जो जितने भी अपने एम्प्लॉई हैं जो लगे हुए हैं डायरेक्ट बिजनेस इसलिए हुआ हम्म, हम्म, हम्म। तो आप क्या रूरल एरिया में अच्छा आप बोलिए पहले आगे क्वार्टर में अपने को डीएसए का बिजनेस नजर आने लग जाएगा सर अच्छा और अभी जो अपनी चार परसेंट की ग्रोथ रही हाँ। तो क्या इसका मतलब अभी आपको लगता है क्या ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा डिमांड कम है या आप देना नहीं चाहते क्या सिचुएशन है देखो दोनों चीजें हैं क्या होता है कि जब पैसा कंपनी के पास में फ्लो में अगर कम्प्लीटली हर क्वार्टरली आपको पैसा मिल रहा है और स्मूथ चल रहा है तो आप भी क्या होता है आगे जो डिस्बर्समेंट और जो है वो भी आपका फ्लो में चलता रहता है बिजनेस भी आप करते रहते हो लेकिन अगर एकदम मार्केट में कोई किसी की वजह से भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है तो इसलिए हम लोग को जो लिक्विडिटी मेंटेन है हमारा बीस से जो पच्चीस करोड़ जो हमारा अमाउंट है वो हमारा होल्ड पड़ा हुआ है हम्म। तो इस मार्केट की स्थिति को देखते हुए वो एक रिजर्व फंड के टाइप में अपना पड़ा है इसलिए उसको हम ज्यादा यूज कर नहीं पाए अगर ये चीजें नहीं होती तो हमारे पास बीस करोड़ जो है वो ब्लॉक नहीं रहता वो कंटिन्यू चलता रहता तो डिसबर्समेंट भी कंटिन्यू चलता रहता और मार्केट में सीनियर इस तरह से है तो क्या है कि लोग बागों ने आज की तारीख में बिजनेस पे फोकस करते हैं तो मकान बनाने में और उनके अंदर भी बिजनेस जो है वो ग्रोथ कम हो गई है तो डिमांड भी साइड भी अपने थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन हाँ हाल फिलहाल जो है अभी ऐसा लग रहा है कि डिमांड धीरे धीरे इस क्वार्टर में अब बढ़नी चालू हुई है मुझे लगता है कि ये अप्रैल हाँ, क्लियर हो जाएगा sir Vinod ji liquidity liquidity तो सिस्टम में काफी आ गई है आप 25 करोड़ रुपया हाथ में रख के डर क्यों रहे हैं बिजनेस क्यों नहीं करना चाह रहे हैं नहीं नहीं सर भाई आप जो 25 करोड़ वो आज की तारीख में लिक्विडिटी मेंटेन भी रखनी पड़ती है कारण क्या होता है कि आपका जो मार्केट चलता है तो दोनों चीजें चलती है आपका पैसा आने के अंदर भी आपका जो है डेली इंश्योरेंस बढ़ता है ऐसा नहीं है कि अपन एक तरह से सोचेंगे कि ये पैसा नहीं आएगा और वो आ जाएगा तो दोनों चीजों मेंटेन तो अपने को रखने पर एक एक डेढ़ महीने दो महीने का जो रीपेमेंट है सात से आठ करोड़ का अपना पेमेंट है उतना तो अपने को रिजर्व चाहिए ना और ये जैसे चीजें क्लियर होगी नया कल हो जाएंगे उसके बाद तो- उस केस में आप बैंक लिमिट लेके रख सकते हैं ताकि जब भी आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट हो तो आप बैंक लिमिट को यूज कर लें ताकि 25 करोड़ का जो भी फंड में ब्याज का जो नुकसान हो रहा है वो रुक जावे आपका सर बैंक को लिमिट बैंक को लिमिट रख के रखती नहीं है वो डिसबर्समेंट तो लेना ही पड़ता है पैसा लेना ही पड़ता है ऐसा कोई भी नहीं बैंक सेंक्शन कर देगी और आप पैसा मत लो आप और दोनों चीजें साथ ही चलती है hello sir this is the operator sorry to interrupt you sir there is some disturbance from your line sir one moment so you can proceed. Uh, hello. Gupta, you may proceed now. Uh, are you telling to me or Vinodji? Uh, to Mr. Vinodji. Okay. आप बोले बोले सर बस मैं खाली इतना सा जानना चाह रहा था कि अभी थोड़ा सा लिक्विडिटी सिस्टम में अच्छी आई है तो हमको अभी थोड़ा सा बिजनेस तो बढ़ाना चाहिए ये हमारी थोड़ी सी ओपिनियन थी जगह बिजनेस तो नेचुरली सर क्या आएगा अब जैसे ही कोई एक नया सेंशन होने चीजें जैसे मिलती है बैंक लाइन जैसे क्लियर होती है ना उसके बाद में बिजनेस तो वैसे वो जो पहले रूटीन में था वो रूटीन में आ जाएगा यदि काम करने में आपको दिक्कत आ रही है तो why not you go for NCD और एनएचबी uh, और इस तरह का आपके पास जो सोर्स है उसके ऊपर आप क्यों नहीं सोच रहे हैं एनएचडी एनएचबी और एनसीडी और सब चीजों में आज की तारीख में एनसीडी की कॉस्ट आप देख लो आप बिजनेस करके आप प्रॉफिट क्या कमा लोगे सर एनसीडी आज मार्केट वो नहीं है जो पहले था आज एनसीडी मैंने उस समय टेन पॉइंट नाइन जीरो में एनसीडी ली है आज एनसीडी साढ़े तेरह चौदह परसेंट में जाती है और कॉस्ट मिला तो, तो फिर बचता नहीं है ना ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप क्या एक पीरियड में कोई महंगी पैसा और महंगा आप सिस्टम में ले लो तो मुझे आगे कोई भी पैसा सस्ता नहीं मिलेगा ना एक बार आपकी फौज बढ़ गई उसके नीचे फिर अमाउंट मिलता नया सेंक्शन आएगा उसके साथ साथ में आएगा इसलिए ये नहीं है कि इस पीरियड में आप कोई ऐसी गलती कर जाओ जो आगे के लिए भी अपने को तकलीफ हो जाए एक अगर मैंने कोई भी बोरिंग गलत रेट पे कर ली तो नेक्स्ट उसके पैरल ही चीजें आती है फिर मैं ये नहीं पूरी मेरी कंपनी की पूरी टोटल ही कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी विनोद जी वो थोड़ा सा रहती है मेरे साथ फिक्स डिपॉजिट के बारे ऑप्शन के बारे में भी सोच रहे हैं आप नहीं सर फिक्स डिपॉजिट अपना एन इसमें हाउसिंग फाइनेंस में तो आरबीआई ने अलाउ नहीं कर रखा किसी को भी अभी नई कंपनियों को कर भी नहीं रहे और पब्लिक की जो फिक्स डिपॉजिट जो है वो अपन ले भी नहीं सकते ले भी नहीं सकते sir deposit okay okay all the best लेकिन uh, हाँ, वगैरह है वो काफी फेवरेबल हुए हैं और मेरे हिसाब से लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी है मार्च मार्च अपना वो महीना निकलेगा उसके बाद चीजें खत्म हो जाएगी सर हाँ क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं आएगी कंपनी में आप देखिए कि क्या अपना भाव कहाँ से कहाँ आ गया तो हर बाजार वही डरा हुआ है कि ग्रोथ नहीं आ रही है कंपनी में तो क्या करें सबसे बड़ी बात ये होगी सर ग्रोथ खाली एस में नहीं है पूरी इंडस्ट्री में है और प्रॉब्लम्स खाली एस में नहीं पूरी इंडिया में प्रॉब्लम्स है अगर आपका आज का समय तो ये कि अपन कम से कम स्टेबल होके और जो चीजें कर रहे हैं वो अपना बहुत अच्छे से चीजें अपन करते रहे बाकी ठीक है मार्केट तो आपका जैसा भी चीजें आएगी स्टेबल है तो अपन बिजनेस आराम से कर लेंगे ना भाई तो आज अपनी टीम है हम पूरे पूरे एक साल में हमने टीम मजबूत की है ठीक है सिस्टम को अपग्रेड किया है चीजों को अपग्रेड किया हम भी उसी की इंतजार कर रहे हैं आज की तारीख में अपनी जितना ब्रांच जितना मैन पावर है अगर मान लो मैन पावर में मिनिमम हमारा काम भी होता है तो हम महीने का बीस करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट कर पाएंगे नेक्स्ट में सौ डेढ़ सौ दो सौ करोड़ की बुक बनाने में हमको कोई ज्यादा समय भी नहीं लगेगा चीजें भी नहीं होगी खाली ये पॉजिटिव चीजें होना चालू होगी और सब चीजें हो जाएगी जो शॉर्टफॉल इस साल का आपने को लग रहा है वो शॉर्टफॉल आपको एसआरजी में नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा ये शॉर्टफॉल भी निकलेगा और नया बिजनेस भी ओपन करेंगे चलिए बहुत अच्छी बात है Vinod ji all the best sir thank you thank you Next, sir. Uh, sir, your uh, this is the operator. Uh, sir, the uh, the audio is not clear, sir, from your side. Uh, one moment, sir. I'm checking out. Clear, clear, sir. Reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and one at this time. The next question is from the line of Dikshit Doshi from Whitestone Financial Advisors. Please go ahead. Hello. Uh, good afternoon, Vinodji. Uh, Dikshit here. Uh, first of all, congratulations कि ये जो लास्ट डेढ़ साल खराब रहा है पूरी इंडस्ट्री का उसमें भी एटलीस्ट हमारी असेट क्वालिटी काफी अच्छी से मेंटेन्ड है सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर दो तीन क्वेश्चन थे रिसेंटली हमें हिंदुजा होम फाइनेंस और हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस से कुछ टर्म लोन मिली है तो आ, uh, आप अमाउंट बता सकते हैं कितनी मिली हाँ हिंदुजा अपना हाउसिंग uh, से मिला है अपने को आठ करोड़ रुपया ओके और उससे मिला है साढ़े छह करोड़ रुपया हिंदुजा लेलैंड से ओके और तो साढ़े चौदह करोड़ और ये लंबे टेन का है मतलब हाँ ये अपना सब टेंडर जो है वो पांच साल से ऊपर ही होता है sir okay okay good uh, और uh, हाँ, एक में अपने को छह साल मिला है और एक में अपने को uh, साढ़े पांच साल का मिला है पांच और छह साल का है ओके ओके सेकेंडली सर इसके अलावा अभी और कुछ कहीं से मतलब ऐसा लग रहा है क्या बिकॉज मैं जस्ट देख रहा था सो so, अगर हम Q3 के एंड पे देखें तो हमारी नेटवर्थ है seventy two point five crore और अर्जुन करते हैं कि हमारा Q4 भी सिमिलर टू Q3 अगर रहे तो ईयर एंड पे हमारी नेटवर्थ ऑलमोस्ट 77 78 करोड़ हो जाएगी और उसके सामने हमारी बोरोइंग है 250 करोड़ सो so, लिवरेज के एंगल से देखे तो हम 3.2 पर टाइम्स लिवरेज है so which is very low housing finance companies में तो uh, आपके हिसाब से uh, क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है फ्रॉम बैंक साइड के uh, उनको किस चीज की दिक्कत है फंड करने में एक्चुअल में क्या है इस पीरियड में पूरे साल भर में जो रहा है पहले तो हाउसिंग इंडस्ट्री का सबको नॉलेज है ही है क्या चाह है लेकिन अभी बैंक लाइन भी चालू हुई क्योंकि पहले बैंक स्टार्ट हुआ था फिर डबल ए रेटिंग से हुआ था डबल ए रेटिंग वाली कंपनियों को वो पैसा दे रहे थे फिर ए रेटिंग वाली कंपनियों को देना उन्होंने चालू किया फिर अभी क्या हुआ कि जैसे ही बैंक लाइन ने जैसे हमारी कंपनी जैसे ट्रिपल बी रेटिंग वाली कंपनी है इनको भी इंटरटेन करना चालू किया अब ये क्या इस क्वार्टर क्वार्टर में क्या सब बैंक वाले आपस में मर्जर में लग गए वो बैंक इसमें मर्ज हो रहा है वो बैंक इसमें मर्ज हो रहा है प्रपोजल हमारे लगे हुए भी है लेकिन वो डीले चल रहे हैं बैंक में हो सकता है मार्च तक अपना कोई बड़ा अमाउंट है वो अपना सेंक्शन भी हो जाएगा तो बैंक लाइन यहाँ सबने वो क्लियर भी हो भी जाएगी ये थोड़ा सा टफ इस वजह से रहा है मार्केट में बाकी पहले जैसी चीजें नहीं है अभी काफी पॉजिटिव है बैंक भी हमारे दो तीन बैंकों में प्रपोजल चल रहे हैं हो सकता है मार्च तक कोई कुछ खबरें अच्छी मिले अपने को तो अपना आगे बढ़ने में अपने नेक्स्ट ईयर में अपन जो शॉर्टफॉल है वो अपन कवर कर पाएंगे और लिवरेज जो है अभी अपना वैसे भी कम है तो ग्रोथ करने में भी कोई कंपनी को दिक्कत नहीं है कोई कैपिटल का हाँ, कोई प्रॉब्लम मतलब कम है तो आई थिंक सो बैंक को भी थोड़ा कंफर्ट लेवल ज्यादा आना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट नहीं बैंक जो है वो सिक्स सेवन टाइम तक तो ऑलरेडी अलाउ करती है फटाफट उसमें कोई उनको इश्यू है नहीं और छह सात परसेंट तक भी करते हैं तो अपन पांच सौ करोड़ तक आराम से जाते हैं और अस्सी नब्बे अपना हुआ तो अपन पांच सौ साढ़े पाँच सौ करोड़ की बुक तक तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं अभी और नेक्स्ट जो फाइनेंशियल इसमें और हो जाएगा तो उसके बाद में अपन सोचते हैं नेक्स्ट एक क्वार्टर के बाद में अगले साल होगा तो अपन कोई कैपिटल का भी सोचेंगे कैसे ओपन कर सकें ओके और लास्टली कुछ एनएचबी साइड से कुछ हो सकता है क्या कि वहाँ पे अभी जो सेगमेंट में हम हैं वहाँ पे ज्यादा इतना फंडिंग नहीं मिल रहा है एनएचबी भी पॉजिटिव है एनएचबी भी फंड देना चाहती है एनएचबी दे रही है फंड लेकिन उनकी कोई कंडीशन उसमें थोड़ा सा दिक्कत ही आ रहा है तो फंड में जो पहले उन्होंने कोई एक निकाला है जिसमें ये अगर आपका round off zero nine percent है तो आपको पूरा अमाउंट जमा कराना पड़ रहा है तो एक कंडीशन ऐसी डाली है तो भी हमने भी दो हमने भी दो करोड़ रूपये जमा कराया उसमें वो क्या था जैसे आपका तीन करोड़ आउटस्टैंडिंग तीन करोड़ नब्बे लाख है ठीक है तो उसमें आपको पूरा नब्बे लाख का रिपेमेंट करना है अभी नए जो आए हैं उन्होंने कुछ चेंज किया पॉलिसी में तो वो थोड़ा सा कर है तो उसको समझने के चक्कर में ये चीजें अटकी हुई है वो चीजें क्लियर हो जाएगी तो अपन आगे उसमें बढ़ पाएंगे ओके ओके ठीक है sir thank you right now. Thank you. Reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and one at this time. The next question is from the line of Ritesh Barjatia from Asian Market Securities Private Limited. Please go ahead. Yeah, thank you, sir. Uh, sir, uh, आप जैसे लास्ट डेढ़ दो साल की आपकी रीडिंग्स बता सकते हैं कि जब से ये जो आईलैंड एफ का एपिसोड हुआ था उसके बाद से पूरी इंडस्ट्री में क्या हुआ है किस तरह से अपने को प्रॉब्लम आई और कस्टमर लेवल पे भी इसका कुछ इम्प्लीकेशन आपको देखने को मिला है क्या customer level in the sense retail पे भी एंड प्रॉपर्टी डेवलपर साइड भी अपना जैसा एल का थोड़ा सा लोन बुक अपना कंपेरेटिवली बड़ा है compare to the retail book और हम्म। अपने सोच में अपने बिजनेस में अपन वैसा कुछ आगे जाके चेंजेस करने का सोच रहे हैं कि एल बुक अपन थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाएंगे या वॉट जो भी आपका रीडिंग्स रहा है लास्ट एक डेढ़ साल का उसके ऊपर थोड़ा सा रितेश भाई एक डेढ़ साल में ये हुआ तो जो भी मार्केट कंडीशंस खराब होने से जो लिक्विडिटी क्रंच हर बिजनेस में आया और हर में, हर आदमी के ऊपर इसका इफेक्ट है अभी जितने भी जो नए हाउसिंग लोन है या नए हाउसिंग मकान जो है वो अभी एक्चुअल में बनना कम हो गए हैं तो उसकी हाउसिंग लोन की डिमांड भी थोड़ी कम हो गई है उसकी वजह से अपना लेप वाला बिजनेस बड़ा है ओके हाँ तब जो रूरल में और अपन जो काम करते हैं रूरल में वो क्या है अलग अलग यूनिटी होता है वो कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह इस तरह से होते नहीं है अब जैसे ही उसका इफेक्ट थोड़ा सा भी ठीक हो जाएगा तो वापस चलेगा क्योंकि मकान एक ऐसी चीज है वो हर आदमी का सपना होता है हर चीज का सपना होता है तो कभी रुक नहीं सकता ये टाइमली फेज है ये टाइमली फेज में भी निकल जाएगा ये जैसे ही मार्केट ठीक होता है वो टाइमली फेज निकल जाएगा तो वापस वही रनिंग में आ जाएगा वापस वही चीजें चलेंगी आदमी की बेसिक नीड है तो सर जैसे अपना जो भी कस्टमर सेगमेंट तो- है रिटेल साइड में भी आ, वो लोग इतने ज्यादा इम्पेक्टेड हैं या ये केवल सेंटिमेंट के कारण ये चीजों की दिक्कत आ रही है क्योंकि जनरली अपना जो भी कस्टमर सेगमेंट है वहाँ पे आई बिलीव इतना ज्यादा पेन नहीं होना चाहिए जितना कि एक थोड़ा सा अपर क्लास जहाँ पे 15-20 लाख रुपीस का on an average ticket size होता है उनके लिए जरूर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इससे में क्या है सर जो जितने लोगों की जो अर्निंग्स है वो तो अर्निंग तो अनसर्टेन हो जाती है ना डर डर तो डर का माहौल जब होता है तो उसको लगता है यार मेरी जो इनकम है वो रेगुलर रहेगी नहीं रहेगी तो वो क्या करता है खाली वेट करता है उसको मकान बनाना है जब चीजें करनी फिर भी सोचता है मैं एक साल बाद काम करूँ या छह महीने बाद काम करूँ इसलिए वो रुक जाता है ओके okay. वो रुके हुआ है जैसा भी चीजें ठीक होगी वापस चालू हो जाएगा ओके okay. आज की तारीख में में रिस्क चाहता है हाँ तो सर ये जो लास्ट एक डेढ़ साल दो साल का पीरियड गया इसमें अपने को जो मंथली ईएमआई अपना आ रहा है वो सटन रहा है उसमें कोई इशू कभी देखने को मिला है किसी पर्टिकुलर मंथ में या किसी पर्टिकुलर जोग्राफी में ऐसा कुछ विटनेस हुआ है नहीं वो तो एक्चुअल में हमारा क्या जो कलेक्शन जो मॉडल है वो थोड़ा वो काफी इफेक्टिव है प्रभावी है तो हम उन चीजों को हमको मालूम है कि मार्केट इतना खराब है हमने उसी तरह से मैन पावर बढ़ा के थोड़ी तो उस पर स्ट्रांग मॉनिटरिंग करके हम उस चीजों को मेंटेन कर बैठे हैं तो वो हमारा बराबर चल रहा है हम उस चीज को बिगड़ने देते नहीं है और साथ में रहा अपने कुछ डेढ़ साल में साल डेढ़ साल में तो आप चीज कहते हैं उसमें ये हमारा रिपेमेंट जो हुआ इंस्टॉलमेंट का क्लाइंट का तो हमारा आ ही रहा है थोड़ा बहुत तो डिलीवरी उसकी बढ़ती है क्योंकि रूरल रूरल है ना तो आदमी बैंकिंग वगैरह में थोड़ा टाइम लगाता है लेकिन फिर भी धीरे धीरे आज की तारीख सब सिस्टम में आने लगे हैं वो वाला समय से नहीं रहे खाली हमारे पुराने जो भी लोन है तो उसमें भी ज्यादा नहीं है 200-300 क्लाइंट ऐसे होंगे हमारे बैंक सिस्टम में नहीं होंगे बाकी टोटली जो है ना वो सब नैश और सब आरटीजीएस से पैसा आता है टोटली बैंकिंग सिस्टम से पैसा आता है okay. वो थोड़ा सा है बाकी ऐसा रहा नहीं बाकी सिस्टम में आ गया सर okay. अब पिछला डेढ़ साल जो है वो काफी सीखने को मिला है और समझने को भी मिला है और हमको भी लगा कि हमारी स्ट्रेंथ कैसी है उसमें हमको ये रहा है हमारा जो कैश फ्लो है वो हमारा 2025 तक हमारा लास्ट ई एम आई है जो अभी, अभी तक हमने जितने बोरा कर रखा है आज तक मंथ वाइज हमारा कोई भी मिसमैच नहीं है कैश फ्लो मिसमैच है ना एल एम मिसमैच है तो ये हमारा प्लस है हम जो सिद्धांतों से काम कर रहे हैं चीजें कर रहे हैं ठीक है वो हम बहुत अच्छा समय हमारा निकला हमें अच्छा भी लगा कि भाई एक डेढ़ साल में जो भी प्रॉब्लम थी वो रही सीखने को बुरा और हमारा हम हमारी टीम वगैरह सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग कर पाए आने वाले समय में जो है तो मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है सर जैसे आप बता रहे लास्ट एक डेढ़ साल में अपने टीम को स्ट्रॉन्ग करा है सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करा है उस पर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं किस तरह से मतलब सिस्टम्स में क्या कुछ चेंजेस करें या टीम में कोई हायर लेवल पे अपन ने लिया है किसी को या हाँ, हमने हम हमने टीम में हाई लेवल पे लिए है पूरा ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन किया है पूरा सिस्टमों का हमारा पहले ऑनलाइन ही था अभी हमारे सब ब्रांचें ऑनलाइन है हमारी सबकी मोबाइल एप्लीकेशन है कलेक्शन सेल्स लॉग हर चीज हुआ है फॉलोअप का सिस्टम हमारा पूरा अलग है इसमें कलेक्शन के लिए पूरा हमारा कॉल सेंटर्स वगैरह पूरा बना हुआ है डे टू डे वर्किंग में रिपोर्ट्स रहती है तो ये सब चीजें हमने स्ट्रॉन्ग की है और एक ऑटो मोड पे अपने कंपनी को डालते हैं उस तरह से हमने ऑटो मोड पर चीजें हमने डालने की कोशिश की है तो हम काफी हद तक उसमें चीजें हमने कर ली है उसमें ताकि है आगे को कंपनी को ग्रोथ करने में और चीजों करने में उस समय हमको इन सब चीजों पर फोकस नहीं करना पड़ा तो ये साल जो हमको मिला है अगले दो तीन चार साल तो हमको चीजों पर सोचने की जरूरत नहीं वो हम चीजें सब बना पे बना चुके हैं okay okay thank you sir that's all from my side Thank you. Reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and one at this time. The next question is from the line of Ravi Naredi from Naredi Investments. Please go ahead. Vinod ji खाली बस मैं इतना सा जानकारी चाह रहा था कि आप और कोई बोर्ड के अंदर प्रोफेशनल्स लोगों को लेने की सोच रहे हैं जिससे आपको काफी उनका अनुभव का लाभ मिले और कंपनी को भी उसका फायदा मिले सर मेरे पास में टोटली प्रोफेशनल टीम ही है मेरे पास जो आज तारीख में ढाई सौ तीन सौ के लोग होंगे उसमें हंड्रेड सौ लोग मेरे पास प्रोफेशनल्स हैं लेकिन अभी बिजनेस वाले हैं और बिजनेस में डर लग रहा है कर रहा है उससे यदि आपके पास और प्रोफेशनल लोग बोर्ड में होंगे तो उनकी एडवाइस पे आप और ज्यादा से काम कर पाएंगे नहीं नहीं नहीं सर ये वो प्रोफेशनल्स का जो क्राइटेरिया है ना वो प्रोफेशनल क्राइटेरिया कभी आप हमारा पूरा बोर्ड दे, बोर्ड देखोगे और हमारा जो आ, की मैनेजमेंट में जो लोग हैं आप उनका देखोगे तो आपको ये चीजें नजर नहीं आएगी सर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं सर सब चीजों नहीं और ऐसा होता है तो आपको डर नहीं लगता है क्योंकि सारी कंपनियां ग्रोइंग कर रही है और सारी कंपनियों में ग्रोथ आ रही है एस के अलावा तो इसके लिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप डरे हुए हैं और आपके पास प्रोफेशनल्स की कमी है इस वजह से वो आपको एडवाइस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से नहीं नहीं नहीं सर नारे साहब आप गलत सोच रहे हो आप डरने वरने की बात तो सर बिजनेस में होती भी नहीं है पैसा भी है हमारे को सिस्टम ही स्ट्रांग है डरने की बात ही नहीं है जब आप रेटिंग जैसी चीज आप नहीं बढ़ा सकते बैंक से पैसा तो मैं कहां से आएगा बोले रेटिंग में आप भी दिलवा दो अगर आपको लगता है तो जो चीजें जैसे चलेगी वैसे चलेगी ना खाली बात तो आपको डरने से ये मेरा समझना पड़ता है और करना पड़ता है यदि प्रोफेशनल्स आपके पास होते हैं तो आपको कहाँ से पैसा लेना है और किसको देना है वो सारी जानकारी वो आपको बोर्ड में यदि रहेंगे और अच्छी कंपनी के एम्प्लॉज आपके रहेंगे तो दे कैन एडवाइस यू क्योंकि आपकी एक लिमिटेशन से विनोद जी की आप एक लिमिट से ऊपर काम नहीं कर सकते यदि आप प्रोफेशनल्स को हायर करोगे तो डेफिनेटली उसका फायदा हमारी कंपनी को होगा क्योंकि मैं भी शेयर होल्डर हूँ तो हमारी कंपनी को होगा मैं ये वर्ड कम में दे रहा हूँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो मैं आपकी बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन सर ऐसा है हाँ। जो आज प्रेजेंट में अपने प्रोफेशनल चाहिए वो आज के प्रेजेंट सीनियरों में अपनी कंपनी के साइज के हिसाब से प्रोफेशनल है आगे जैसे ही अपन ग्रोथ करेंगे जहां जहां अपने को जिस तरह से और जिस साइज के प्रोफेशनल चाहिए वो अपनी कंपनी में आते रहेंगे और अपन उनको लेते रहेंगे okay Vinod ji thank you thank you thank you thank you Reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and one at this time. is from the line of Dikshit Doshi from Whitestone Financial Advisors. Please go ahead. Uh, uh, thank you Vinod ji दो चीज और uh, ए, एक बोले बोले। आप आप जैसे बता रहे थे कि हमारे काफी प्रपोजल्स पेंडिंग है बैंक्स में और काफी मर्जर के कारण और उसके कारण डिले हो रहा है और कुछ हो सकता है मार्च अप्रैल में तो जस्ट uh, रफ कुछ बता सकते हो क्या कि कितना अमाउंट हो सकता है सो नेक्स्ट ईयर कैसी ग्रोथ हो सकती है सौ करोड़ के प्रपोजल लगे हुए और सौ करोड़ के आसपास में सेंक्शन आने की उम्मीद है बैंक का तो इसलिए आपको नहीं बता पाएंगे कि जब तक चीजें होती हैं हाँ। तब तक अपन नाम ले सकते और समझो ये बैंकों में जो लग रहे हैं वो पोजिशन पे है हो जाएगा उसका और समझो ये जो सौ करोड़ होगा अगर समझो जो भी प्लस माइनस जो भी हो तो ये आ, एक ही बैंक से है कि तीन चार बैंक से बीस बीस तीस तीस करोड़ वैसा है नहीं दो तीन बैंक से बड़े बड़े हैं चालीस पचास करोड़ भी है 30 करोड़ भी है ओके एंड लास्टली सर जैसे डीएसए का जो बिजनेस है इस साल हमारा अभी इस बार ऑलमोस्ट जीरो हो गया है सो so, uh, समझो कि ये जो भी डीएसए होते हैं सो अल्टीमेटली जब हमारे पास भी फंड आ गया आएगा और हम वापस ग्रो करने लगेंगे तो हाउ uh, डिफिकल्ट मतलब ऐसा डिफिकल्ट नहीं होगा कि डीएसए को वापस अपॉइंट uh, करना या उस एंगल से कि फिर आ, uh, ये रूटीन बिजनेस है वन जैसे ही हमारे पास फंड आ जाए वो एक बार एक बार कंपनी का डीएसए जो होता है वो तो रूटीन में चलता है ना सर okay. उसको बंद चालू करना पड़ता ही नहीं है okay. तो रनिंग में रहता है नहीं जैसे समझो अभी जैसे समझो उनके पास भी प्रपोजल आता होगा लेकिन हमारे पास since we are also at shortage के भाई हमारे पास भी लिमिट में फंड्स है तो तो क्या होता है कि वो उसके पास कुछ प्रपोजल्स वो कहीं और ले गया या वैसा तो समझो जब हमारे पास फंड आ जाएगा तो वो इजी रहेगा वो हमारे पास भी आ सकता है वापस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ओके ठीक है sir thank you thank you Reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and one at this time. further questions. I would now like to hand the conference over to Mr. Ritesh Barjatia for closing comments. thank you, sir. On behalf of Asian Markets, we would like to thank all the participants for participating in the call. Also, a special thanks to Mr. Vinod Jain, MD of the company, for giving a detailed industry scenario and about the quarterly performance of SRG. Sir, any closing remarks you would want to make? नहीं क्लोजिंग क्लोजिंग डिमांड तो यही है जैसे ही जैसे ही अपना समय ठीक आ रहा है अभी सीनियर भी ठीक हुआ है और शेयर होल्डर्स को ये कहता हूँ जितना पैसेंस आपने आज मार्केट में देखा है आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ जो है वो मल्टीपल ग्रोथ है कंपनी की भी और मार्केट की भी थोड़ा समय है तो समय में जब खराब समय होता है तो सबके साथ में उसी तरह से निकालना पड़ता है शांति से और अच्छे से करना पड़ता है और इसमें एहसास भी हमेशा अच्छी अग्रणी रही है और क्वार्टर बाई क्वार्टर जो भी आपके रिटर्न है ईपीएस है वगैरह ये है वो हमेशा बढ़ के दिया है वो चीजें हुई है तो इसके आगे भी इससे अच्छा ही होगा थैंक यू धन्यवाद so on behalf of Emsec we conclude the call